संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पूर्ण आत्मा मनुष्य की भांति स्वर्ग लोक में चले गए तदंतर मुनिवर अपस्तंभ और महामुनि ने लोमस राजा नाभाग को नाना प्रकार के अविष्टवर मानने के लिए प्रेरित करने लगे तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ दुर्मुद्ध धर्म बुद्धि को वर्ण किया अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले राजेंद्र तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है यदि राजा मंदोन्मत होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ सोल पुरुष होगा राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है यह ध्रुव है उन्हें सदा मोह लेता है होता है यह भी ध्रुव है और मुंह से नरक की प्राप्ति भी होती है अतः वो बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं किंतु मनीषी मानव उसको नरक के समान देखते हैं अतः महाराज यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद ना करना चाहिए क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है यो कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नर्क में प्रवेश किया पार्वती इस प्रकार देवी का नदी का प्रभाव बताया गया है मुनीश्वर आपस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की वे निषाजों के जाल में पड़े थे इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंगों का नाम जालेश्वर हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहाँ पितरों के लिए पिंडदान करता उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता चंद्रेश्वर कपिलेश्वर तथा नालेश्वर की महिमा महादेव जी कहते हैं पार्वती आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण एवं निवृत्त कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश्वर लिंग है वही अमृत कुंड है और कुल कुंड भी है जो उन कुंडों में स्नान करके चंदेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा वह चंद्र तालाब है जिसका विस्तार सोलह धनुषा है वहाँ से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग दर्शन करने के लिए जाए यह स्थान शिशि भूषण से पूर्व कोटि तीर्थ से पश्चिम जरद गव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है यह कपिल क्षेत्र पूर्णहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहाँ महेश्वर की स्थापना करके दस हजार वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की है इस प्रकार उनके द्वारा वहाँ कपिलाधारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता वह कोटि गोदान का फल भागी होता है यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपाद योग हो तो वह कपिला कही जाती है उस दिन कपिला क्षेत्र में अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूलों से भगवान सूर्य को अर्घ दे अर्घ का मंत्र इस प्रकार है त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश में आपको नमस्कार है बार-बार नमस्कार है यह अर्घ ग्रहण कीजिए तत्पश्चात सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर दिशा में जरदव के द्वारा स्थापित जरदवेश्वर लिंग है वहीं देव नदी अंशुमति बहती है उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है वह सौ कोटि से भी अधिक वर्ष तक पितरों को तृप्त रखता है चंदन पुष्प पंचामृत तथा गुगुल की धूप से जरद गेश्वर की पूजा करनी चाहिए उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है जरा उगेश्वर से पूर्व दशा में 180 धनुष की दूरी पर हाट के लिंग है वहीं दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर से शिव की स्थापना की है उसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कलिदोष से छुटकारा पाता है और युद्ध में विजयी होता है राजा गज और भद्र मुनि का संवाद विभिन्न तीर्थों की महिमा और दामोदर महात्म्य महादेव जी कहते हैं पार्वती स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजगाज राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए उनकी सती साधी पवित्रता पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहीं आई दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे इस प्रकार वहां रहते हुए उनके दस हजार वर्ष बीत गए तदंतर महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण उनके ब्राह्मणों के साथ वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जन लेकर भगवान जनार्दन की पूजा की फिर जो ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे तो ही उनकी सृष्टि राजा गज पर पड़ी राजा ने भी उन सब को देखा और आगे जाकर कहा पूजनीय महर्षियों आप लोग मेरे घर पधारे मेरी यशस्वनी पत्नी संगत के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइए राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा मुने यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है नगरी पुरी पर्वत समुद्र सरिता सरोवर ग्राम गोकुल श्रेष्ठ मनुष्य रत्न तथा आकार आदि से सुशोभित है भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है यही बार-बार पुरुष गिरते हैं अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है उसका उपदेश कीजिए भद्र बोले राजेंद्र जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते उनके लिए वराह तीर्थ जल से भरे हुए शाय मात्र है और देवता पत्थर है एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र है यदि परमात्मा तत्व का ज्ञान है तभी तीर्थ और देवताओं के चिंतन में स्वरूप का दर्शन होता है इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं भूतेरे पुण्य सलील पवित्र नदियां तथा पवन जल वाले समुद्र हैं यहाँ पृथ्वी स्थान स्नान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है कृष्ण विष्णु हर्षिकेश शंखी गदी चतुर्भुज महाबाहु प्रभासवासी दैत्य सुदन वराह वामन नरसिंह बल अर्जुन श्री राम परशुराम बलराम परशुत्तम पुंडरीकाक्ष गदापाणी राधा राघव शत्रुदमन गोविंद जय भूधर जनार्दन सुरेश श्रीधर हरि योगेश्वर कपिलेश्वर नाथ श्वेत दीपपति बद्रिकाश्रमवासी नर नारायण पद्मनाभ सुनाभ है द्विजनाथ धरानाथ शांगपाणी दामोदर जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी ये ही देवदीप देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं इनमें से जहाँ भी मनुष्य जहाँ जाता है वही सब पातकों से मुक्त हो जाता है गंगा यमुना गोदावरी शत्रु विंध्या पायुधा वर्दा चर्मवती सरयू गणकी चंद्रभागा विपाशा तथा शोणा ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ हैं इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं अघन में कन्या कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्ग लोक में जाते हैं यदि पोष मास की पूर्णिमासी को अर्बुदराचल तथा माबू में निवास करके तो मनुष्य जो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है यदि गया में माघ अमावास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता वह श्रीहरि के उत्तम लोक में जाता है जो मिनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभात क्षेत्र में श्राद्ध करते वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते मुक्त हो जाते हैं जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जनप्रिय तीर्थ में जनप्रीत करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को धूप में श्राद्ध करते या वैकुंठ में जाते हैं श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान दान तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है जो भाद्रपद मास में प्रभास में शिष्य भूषण का पूजन करता वह देव स्वरूप हो जाता है जो अश्वनी मास में चंद्रभाग के तट पर श्राद्ध और स्नान करता वह स्वर्गलोक में निवास पाता है